परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणाम ध्वनि ओ धर्म प्रेमी सज्जनों महर्षि दयानंद ने आर्य विनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में परमात्मा को बहुत सारे शब्दों से संबोधित किया है महर्षि दयानंद परमात्मा को जिस रूप में देखते थे परमात्मा का सत्य स्वरूप जो उन्होंने पाया था वो उनके इन संबोधनों में परिलक्षित होता है महर्षि की कामना भी इसमें परिलक्षित होती है और कामना चूंकि ज्ञानपूर्वक परमात्मा के स्वरूप के अनुरूप ही की जाती है इसलिए परमात्मा का स्वरूप भी उसमें परिलक्षित होता है इन संबोधनों के क्रम में आज का संबोधन है हे साम्राज्य प्रकाशक हे साम्राज्य प्रसारक साम्राज्य बहुत बड़ा राज्य है बहुत दूर दूर तक जो फैला हो व्यापक हो वो साम्राज्य है उसके प्रसारक फैलाने वाले किसी राजा का जो राज्य है जितने क्षेत्रफल में है उससे अधिक वो बढ़े फैले ये है साम्राज्य का प्रसार और परमात्मा साम्राज्य का प्रसारक है परमात्मा साम्राज्य का प्रसारक कैसे है इस पृथ्वी पर अनेक साम्राज्य हुए सम्राट अशोक का साम्राज्य रहा सिकंदर ने अपना साम्राज्य फैलाया मुगलों ने अपना साम्राज्य फैलाया बनाया अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य बनाया और इससे पहले भी अनेक चक्रवर्ती सम्राट हुए उनके अपने अपने साम्राज्य थे तो परमात्मा साम्राज्य प्रसारक है साम्राज्य को फैलाने वाला है तो परमात्मा कैसे साम्राज्य को फैलाता है और परमात्मा किनके साम्राज्य को फैलाता है ये स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं क्या परमात्मा सब साम्राज्यों को फैलाता है क्या परमात्मा सबके साम्राज्यों को फैलाता है आज तक जितने साम्राज्य हुए उनको फैलाने वाला परमात्मा था यद्यपि राजाओं का और सेनाओं का सहयोग हमें दिखाई देता है प्रयत्न दिखाई देता है उनके द्वारा किए गए युद्ध या सुशासन दिखाई देते हैं उसके अतिरिक्त परमात्मा की सहायता उनको मिली थी इसलिए उन्होंने साम्राज्य को फैलाया था परमात्मा की सहायता पाकर के वो साम्राज्य को फैला सके थे परमात्मा साम्राज्य का प्रसारक कैसे महर्षि दयानंद ने जिस काल में आर्य विनय में वेद मंत्रों की व्याख्या लिखी उस काल में भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य था और न केवल भारत बहुत सारे देशों में उनका साम्राज्य फैला था जिसमें कभी न कभी सूर्य सदा उगा रहता था अस्त नहीं होता था देश देशांतर द्वीप द्वीपांतरों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भूगोलों में अलग अलग परिस्थितियों में उनका साम्राज्य था तो अंग्रेजों के साम्राज्य काल में महर्षि परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं हे साम्राज्य प्रसारक तो क्या महर्षि ये देख रहे हैं कि ये जो अंग्रेजों का साम्राज्य है इसके प्रसारित करने वाले बढ़ाने वाले परमात्मा हैं और चूंकि महर्षि परमात्मा के भक्त थे परमात्मा की आज्ञाओं के अनुसार ही चलने का प्रयास करते थे उसी का प्रचार करते थे तो क्या वो ये माने मानते थे कि जो अंग्रेजों का साम्राज्य फैला है वो परमात्मा की सहायता से फैला है परमात्मा प्रसारक है अथवा वो ये चाहते थे कि इनका साम्राज्य समाप्त तो हो और भारत में भारतीयों का साम्राज्य आए महर्षि दयानंद के अन्य वचनों से लेखों से स्पष्ट प्रतीति होती है कि वे अंग्रेजों के साम्राज्य को तो समाप्त करना चाहते थे स्वदेशी साम्राज्य की वो स्थापना चाहते थे भारत में भारतीयों का साम्राज्य चाहते थे इसके लिए उन्होंने प्रार्थनाएं भी की हैं प्रयत्न भी किए हैं स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक के रूप में लेखक के रूप में हम महर्षि को देख सकते हैं चेतना जगाने वाले निडर होकर के अंग्रेजों के साम्राज्य को नष्ट करने की बात समाप्त करने की बात कहने वाले हैं तो महर्षि दयानंद परमात्मा को किस रूप में देख रहे हैं हे साम्राज्य प्रसारक किसका साम्राज्य फैलाने वाले यदि परमात्मा साम्राज्य का प्रसारक है तो जितने भी साम्राज्य हैं उन सबका फैलाने वाला वही है और यदि परमात्मा ही समस्त साम्राज्यों को फैलाने वाला है वही फैलाता है तो एक ईश्वर भक्त उस साम्राज्य का विरोध कैसे कर सकता है क्यों करेगा उसे उस साम्राज्य का विरोध क्यों करना चाहिए इत्यादि अनेक बातें इस संबोधन के साथ में प्रश्न के रूप में जुड़ी हैं महर्षि दयानंद को जितना हम लोग पढ़ पाए हैं समझ पाए हैं और वेद और ईश्वर के आदेशों को जितना समझ पाए हैं उसके आधार पर इतना तो निश्चित है कि परमात्मा दुष्टों का साम्राज्य प्रसारक तो नहीं हो सकता लेकिन यहां कोई विशेषण नहीं दिया गया श्रेष्ठों के साम्राज्य प्रसारक कोई विशेषण नहीं है साम्राज्य प्रसारक वेद परमात्मा और ऋषियों के अभिप्राय को समझ के हम इस संबोधन को इस रूप में समझ सकते हैं क्योंकि परमात्मा आर्यों को श्रेष्ठों को चाहता है ये भूमि उसने श्रेष्ठों के लिए दी है न्यायकारियों के लिए दी है सबका हित करने वालों के लिए दी है पक्षपात रहित व्यवहार करने वालों के लिए दी है अन्यों की उन्नति में बाधक न बनने वालों के लिए दी है इसलिए परमात्मा साम्राज्य का प्रसारक उन्हीं लोगों का बनेगा दुष्टों के द्वारा पक्षपातियों के द्वारा अन्यायियों के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया जाता है उसके प्रसारक परमात्मा नहीं है तो इसके साथ हमें ये भी स्वीकार करना होगा परमात्मा यदि श्रेष्ठों का ही साम्राज्य प्रसारक है तो उनका साम्राज्य आज अति विस्तृत तो दिखाई नहीं दे रहा इसके विपरीत अन्यों के साम्राज्य जो कि ईश्वर को ठीक तरह से स्वीकार भी नहीं करते बहुत अंशों में ईश्वर को ईश्वर के विधान को स्वीकार भी करते हैं उनके साम्राज्य बढ़ रहे हैं बढ़े हैं उन साम्राज्यों ने बहुत अन्याय किया है तो परमात्मा साम्राज्य प्रसारक है दुष्टों का नहीं लेकिन दुष्टों के साम्राज्य बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि मनुष्य अपने प्रयत्न से गलत प्रयत्नों से भी लेकिन पुरुषार्थ करके प्रयत्न करके संगठित होकर के बुरे साम्राज्य को भी फैला सकता है अर्थात जब जब साम्राज्य बढ़ेगा जो जो साम्राज्य बढ़ेगा वो परमात्मा के द्वारा ही बढ़ेगा ऐसा नहीं है मनुष्य के कर्म की स्वतंत्रता तो फिर भी विद्यमान है और दुष्टों का साम्राज्य फिर भी बढ़ रहा है जो परमात्मा के सहयोग के बिना भी बढ़ रहा है इसको और दूसरे शब्दों में कहें कि जब परमात्मा श्रेष्ठों आर्यों का साम्राज्य प्रसारक है तो दुष्टों के साम्राज्य को क्षीण करने वाला भी होगा उसका प्रसार वो नहीं चाहेगा लेकिन इसके बाद भी हमें ऐसी प्रतीति होगी कि दुष्टों का भी साम्राज्य बढ़ रहा है अब प्रश्न ये रहेगा या तो जिनको हम दुष्ट मान रहे हैं वो दुष्ट नहीं है जिनको हम वेद विरुद्ध मान रहे हैं वो वेद विरुद्ध नहीं है इसलिए उनका साम्राज्य बढ़ रहा है और जिन्हें हम वेद से युक्त ईश्वर के मानने वाले समझ रहे हैं वे आर्य और श्रेष्ठ नहीं हैं इसलिए उनका साम्राज्य नहीं बढ़ रहा है ईश्वर को मानना या न मानना केवल ईश्वर के स्वरूपतः मानने न मानने पर निर्भर नहीं करता वो भी एक पक्ष है किंतु ईश्वर के द्वारा दिए गए विधान आत्माओं को यथा योग के समान रखते रखना उनको यथा योग के व्यवस्था देना उनके हित की चिंता करना ये जहां पर है पक्षपात रहितता है अपेक्षा करके परमात्मा जैसी निरपेक्षता पक्षपात रहितता न्यायकारिता तो कहीं हो नहीं सकती लेकिन फिर भी उस दिशा में प्रयास होना उसको स्थापित करने का प्रयास होना ऐसा जो भी शासन करेगा उसका विस्तार होगा लोग भी उसको चाहेंगे लोग वहां जाके बसना चाहेंगे जिस शासन में राज्य में ज्ञान विज्ञान की वृद्धि हो रही है विविध ऐश्वर्यों की वृद्धि हो रही है जो कि वेद में बार बार कहा गया है जहां का राजा सुरक्षा व्यवस्था कर पा रहा है दुष्टों को रोकने के लिए अति उत्तम व्यवस्था कर रखी है आतताइयों को रोकने के लिए उत्तम व्यवस्था है और अपराधियों को पकड़ा जाता है बचाया नहीं जाता किसी भी पद प्रतिष्ठा का हो कितने भी धन वाला हो उनको शीघ्र दंड दिया जाता है उनका शीघ्र न्याय किया जाता है तो इस तरह की व्यवस्थाएं जहां हैं अपेक्षाकृत अन्य देशों के तो वो वेद को माने या ना माने ईश्वर के स्वरूप को ठीक माने या ना माने लेकिन इन तत्वों के रहने के कारण से छह राज्य हैं और उनकी बढ़ोतरी होगी वो राज्य जो इस बात की चिंता करता है कि मेरे नागरिकों को शुद्ध भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मिलावट वाली चीजें तो नहीं दी जा रही हैं नकली चीजें तो नहीं दी जा रही हैं नकली औषधियां तो नहीं दी जा रही हैं विभिन्न चिकित्सा आदि नामों से ठगा तो नहीं जा रहा है किसी से अधिक मूल्य तो नहीं लिया जा रहा है इत्यादि मनुष्य की चिंता जो राज्य कर रहा है और उसके लिए समय लगा रहा है व्यवस्था की है व्यक्तियों को लगा रखा है और जहां नागरिक ये निश्चिंत तो हो सकता है कि ये जो भोजन ये सब्जी या फल आया है ये हानि से रहित है परीक्षण पूर्वक उपलब्ध है ये जो खाद्य पदार्थ है इसमें मिलावट नहीं है हानिकारक तत्व नहीं है स्वार्थ के वशीभूत होकर के किसी ने इसको नहीं बनाया है अति स्वार्थ के वशीभूत होके मात्र स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए इसे नहीं बनाया है स्वभावतः मनुष्य की उस ओर प्रवृत्ति होगी अच्छे लोग वहां जाएंगे और वहां पर साम्राज्य बढ़ेगा आज के समय में वो समय तो बीत चुका है कि कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करके और उसकी जमीन को हथिया ले प्राय ये समाप्त हो गया है बहुत कम अंश में ऐसा होता है और यदि होता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग है दूसरे देश हैं जो संयुक्त रूप से उसका विरोध करते हैं ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है यदि कोई देश दूसरे देश की जमीन पर कब्जा कर भी लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत होता है व्यापार के स्तर पर राजनीतिक संबंधों के स्तर पर और उसको पीछे हटना होता है प्राय अथवा प्रतिबंधों को झेलना होता है बहुत कुछ चीजें चल रही हैं भले ही कोई एक सम्राट ना हो लेकिन बहुत लोगों का संयुक्त प्रयास होकर के ये चीजें चल रही हैं यद्यपि स्वार्थी लोग इसमें भी हैं और अपना स्वार्थ साधते रहते हैं तो परमात्मा साम्राज्य का प्रसारक है साम्राज्य राज्यों के अतिरिक्त अन्यों के भी होते हैं व्यापार का भी साम्राज्य होता है संस्थाओं के भी साम्राज्य होते हैं बहुत दूर दूर तक उनके भवन व्यवस्थाएं होती हैं आश्रमों का भी साम्राज्य जैसा होता है जन सामान्य में अच्छाई के प्रति जहां कुछ चीजें अच्छी दिखती हैं आकर्षण होगा लोग जाएंगे और परमात्मा जो साम्राज्य का प्रसारक है वो मनुष्यों के पुरुषार्थ के निरपेक्ष कभी भी नहीं है इसमें जुड़ी है बात जो मनुष्य अपने को श्रेष्ठ मानते हैं श्रेष्ठ हैं और यदि वो उतने प्रयत्नशील नहीं है जितना होना चाहिए उतने योग्य नहीं है उतनी प्रतिभा नहीं है तो उनका साम्राज्य नहीं फैल पाएगा नहीं फैल पाता है तो परमात्मा को जब हम साम्राज्य प्रसारक मान रहे हैं तो हमारे अंदर ये एक विश्वास होना चाहिए एक भक्त के आर्य के मन में कि हम जितना करेंगे साथ में परमात्मा की सहायता भी विद्यमान है ये तो अनार्य लोगों के साथ में है कि वो प्रसार करेंगे और उनके साथ परमात्मा नहीं है हमारे साथ तो परमात्मा भी है लेकिन इसके बाद भी हम नहीं कर पाते हमारे प्रयत्न की कमी है इसको यदि दूसरे ढंग से देखें क्षेत्र की दृष्टि से ना देखें साम्राज्य का मतलब अच्छा राज्य है एक साम्राज्य को हम क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं जैसा कि अंग्रेजों का साम्राज्य अशोक का साम्राज्य अब इसको छोड़ दीजिए जो श्रेष्ठ राज्य है सम्राट है सम्यक रूप से प्रकाशित हो रहा है सम्यक रूप से शासन कर रहा है उसका जो राज्य है उसकी जो व्यवस्था है उसको परमात्मा प्रसारित करने वाला है बढ़ाने वाला है वो साम्राज्य भले ही कितना छोटा सा हो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो लेकिन अच्छी चीजों को अच्छी बातों को परमात्मा बढ़ाने वाला है भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न बातें अच्छी हैं कुछ बुरी भी हैं आज सूचना प्रसार तंत्र इतना विस्तृत हो गया है लोगों का आना जाना बहुत हो गया है परमात्मा के दिए हुए साधनों का उपयोग करके बहुत आसानी और शीघ्रता से एक से दूसरे देश में आवागमन हो रहा है वहां की चीजें देख रहे हैं समझ रहे हैं लोग और उसका प्रभाव दूसरों पर आ रहा है जहां अव्यवस्थाएं हैं वहां व्यवस्था बनाने का प्रयास चल रहा है लोगों को जानकारी हो रही है और ये समस्त पृथ्वी एक अच्छे राज्य की तरफ बढ़ रही है जहां मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता हो जैसा कि परमात्मा चाहता है प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने की स्वतंत्रता हो अपना निर्णय स्वयं करने की स्वतंत्रता हो जैसा कि परमात्मा भी चाहता है यथा योग्य न्यून मूलभूत आवश्यकताएं उसको प्राप्त हो जो कि परमात्मा भी चाहता है आवागमन के साधन हो जो कि वेद में बार बार लिखे गए हैं ऐश्वर्य की वृद्धि हो जो कि वेद में बार बार लिखा गया है उस ओर ये संसार बढ़ रहा है ये अलग बात है कि उसके साथ कई दुर्गुण भी जुड़े हैं जो कि नहीं आने चाहिए लेकिन संसार उन दुर्गुणों को हटाने के लिए प्रयत्नशील भी है परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी है कि उनसे होने वाले दोष इस समृद्धि से आने वाले दोष भी दृष्टिगत होते हैं और उसका निवारण भी सतत चल रहा है साम्राज्य किसे कहेंगे अच्छा राज्य किसे कहेंगे बड़ा होना आवश्यक नहीं गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छा राज्य क्या हो सकता है उसमें कौन से गुण होने चाहिए उन गुणों को यदि हम गिने तो उन गुणों की पिछले कुछ सौ सालों में हम देखें तो वृद्धि हो रही है इसको एक और दृष्टि से देखें अभी हम साम्राज्य अर्थात मनुष्यों का साम्राज्य देख रहे थे यहां परमात्मा का साम्राज्य भी लिया जा सकता है परमात्मा का साम्राज्य तो अनंत है ये पृथ्वी भी उस, उसका साम्राज्य है वो राजा है वो सम्राट है परमात्मा अपने साम्राज्य को सदैव बढ़ाने वाला है मनुष्यों के साम्राज्य में हमें बहुत से प्रश्न उठते रहते हैं परमात्मा कैसे साम्राज्य प्रसार रखे लेकिन परमात्मा का भी तो अपना साम्राज्य है उसने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं और उन व्यवस्थाओं को जो भी तोड़ता है परमात्मा उसका नियंत्रण करता है नियमन करता है अच्छी व्यवस्थाओं को फिर लाता है अच्छे मनुष्यों को उत्पन्न कर अच्छी आत्माओं को मनुष्य बनाता है जो आप फिर से सुधार कर सकती हैं जो फिर से बढ़ सकती हैं जो अधिक अति निकृष्ट स्थिति में पहुंच गई थी उनको फिर अच्छी स्थिति में ला करके उनके कर्म फल भुगवा करके फिर से मनुष्य जन्म देता है परमात्मा के साम्राज्य में कोई अधिक पाप किया हुआ व्यक्ति मनुष्य नहीं बन सकता परमात्मा सम्यक राज्य का प्रसारक है उसका रक्षक है और परमात्मा के रहते इस पृथ्वी पर और अन्य सब पृथ्वियों पर साम्राज्य की स्थापना होती रहेगी मनुष्य कितना भी उसको विकृत करे समय समय पर विकृत करे परमात्मा की ओर से उसकी वृद्धि उसका सुशासन आता रहेगा वो व्यवस्थाएं परमात्मा सदैव देता रहेगा कुछ सौ साल कुछ दस साल बीस साल इत्यादि में ये चीजें हो सकती हैं लेकिन लंबे काल में साम्राज्य ही आएगा साम्राज्य की और अच्छे राज्य का प्रसार परमात्मा की तरफ से सतत चल रहा है तो परमात्मा को हम साम्राज्य प्रसारक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं बिना किसी चिंता के आश्वस्त रहते हुए कि साम्राज्य का वो प्रसारक है अच्छे राज्य का बढ़ाने वाला वो है हम अच्छा कुछ भी करेंगे परमात्मा अवश्य बढ़ाएगा अच्छा ज्ञान दे करके अच्छे साधन दे करके और अच्छे लोगों के मन में ऐसी स्थिति बनाता है परमात्मा कि सत्य के प्रति श्रद्धा होती ही है एक अच्छा व्यक्ति यदि प्रयत्न करे पुरुषार्थ करे आगे आए अग्नि बने नेता बने तो कितने अनजान व्यक्ति जो कि उसको उससे पहले परिचित नहीं थे उस ओर आकर्षित होंगे जहां अच्छाई दिखेगी उस ओर व्यक्ति बढ़ेगा उसको अपनाना चाहेगा ये मूलभूत प्रवृत्ति डाल रखी है परमात्मा का हस्तक्षेप परमात्मा की सक्रियता यहां है मनुष्य कर्म करने में यद्यपि स्वतंत्र है लेकिन फिर भी इस रूप में परमात्मा इसको निर्देशित करता है कि अच्छी तरफ ही चले लेकिन मनुष्य उसको फिर फिर तोड़ के गलत भी जाता है परमात्मा अपने स्तर पर सदैव साम्राज्य का प्रसारक है रक्षा करता है और मनुष्यों के स्तर पर भी उसकी व्यवस्था के कारण से साम्राज्य का प्रसार होता है अच्छे राज्य का प्रसार होता है महर्षि दयानंद ने जब ये संबोधन दिया उनके मन में भी ये भावना अवश्य रही होगी जो गलत राज्य है वो हटे और अच्छा राज्य आए और परमात्मा ऐसा करता है वहां साम्राज्य प्रसार का ये अर्थ कभी भी नहीं कि बुरे लोगों का राज्य आ जाए और वो फैल जाए बुरे लोगों का साम्राज्य हटे और अच्छे लोगों का साम्राज्य आए और परमात्मा ऐसा ही करता है बुरा साम्राज्य कितने बल से स्वार्थ से चलाया जाए धन बल से अधिक नहीं चल सकता उनके ही अंदर ऐसा विरोध भी आपस में पैदा होता है एक दूसरे का घात प्रतिघात होगा ही वहां पर स्थितियां बनेंगी ही और फिर एक समय आता है कि फिर अच्छा राज्य आता है फिर प्रयत्न होते हैं और सतत प्रयत्न होते रहेंगे इन सब प्रयत्नों में हमारे प्रयत्नों में परमात्मा भी हमारा सदा सहायक है ये विश्वास हमारे मन में रहे भले ही अभी दुष्ट लोगों का साम्राज्य बढ़ता हुआ दिखे लेकिन श्रेष्ठ के मन में ये विश्वास रहे कि परमात्मा अच्छे राज्य का बढ़ाने वाला है परमात्मा का सहयोग सदैव मेरे साथ में है और उसके रहते मेरे को कोई हानि नहीं होने वाली है संसार में जितना भी परिणाम आए कम आए तो भी बढ़ना तो इसी तरफ है क्योंकि परमात्मा सदा साथ है साम्राज्य का प्रसारक है तो परमात्मा के प्रति ऐसा विश्वास हमारे मन में उत्पन्न रहे बना रहे और हमारे साम्राज्य के प्रसार के रूप में उसे हम समझते रहें जो जो हम अच्छा कार्य करें तो उसमें जितना फैलाव आए उसमें परमात्मा को भी हम सहयोगी के रूप में स्वीकार करें परमात्मा का भी सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है तब मैं ये कर पाया हूं अहंकार की स्थिति में भी हम ना जाएं परमात्मा को साम्राज्य प्रसारक के रूप में स्वीकार करें परमात्मा का स्मरण करेंगे ओ